मेरे अब्बास तुम ही बुला लो मुझे मेरे अब्बास तुम ही बुला लो तुम कहाँ खो गए हो संभालो मुझे मेरे अब्बास तुम ही बुला लो मुझे आज का सारा माहौल है पुरखतर तुम भी जाते हो मेरी कमर तोड़कर तुम भी जाते हो मेरी कमर तोड़कर आके इस दर्द गम से छुड़ा लो मुझे तुम कहाँ खो गए हो संभालो मुझे मेरे अब्बा से तुम ही बुला लो